अनोशो टॉक ध्यान के कमल नंबर थ्री और फिर हम ध्यान में प्रवेश करेंगे सबसे पहली बात साहस न हो तो ध्यान में उतरना ही नहीं और साहस का एक ही अर्थ है अपने को छोड़ने का साहस और सब साहस नाम मात्र के ही साहस हैं एक ही साहस है अपने से छलांग लगा जाने का साहस अपने से बाहर हो जाने का साहस ध्यान बन जाता है जैसे कोई वस्त्रों को उतार कर रख दे नग्न हो जाए ऐसे ही कोई अपने को उतार कर रख के नग्न हो सके तो ही ध्यान में प्रवेश कर पाता है शरीर भी वस्त्र से ज्यादा नहीं है और मन भी वस्त्र से ज्यादा नहीं लेकिन इन वस्त्रों से हमारा बड़ा मोह इन वस्त्रों को ही हमने अपनी आत्मा समझा इन वस्त्रों को ही हमने अपना जीवन माना है इसलिए उतारने में बड़ी कठिनाई होती है लेकिन एक बार कोई साहस कर ले और उतार कर रख पाए तो फिर कोई कठिनाई नहीं होती फिर किसी भी क्षण इस शरीर से अलग हुआ जा सकता है और जो शरीर से अलग होना नहीं जानता वो संसार से अलग होना कभी भी सीख नहीं पाएगा क्योंकि संसार शरीर का ही फैलाव है वो शरीर का ही विस्तार है और जो शरीर से अलग होना जान लेता है वो संसार से अलग होने का सीक्रेट राज गुर सीख गया है शरीर से अलग होते ही पता चलता है कि मैं कौन हूं जैसे शरीर का विस्तार संसार है वैसे ही शरीर से अलग होकर जिसकी प्रतीति होती है उसी का पूर्ण रूप ब्रह्म है ध्यान साहस है अपने से छलांग लगाने का a jump from oneself इसलिए कमजोर उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे पर इतना कमजोर कोई भी नहीं है कि साहस करे और प्रवेश ना कर पाए कमजोरी केवल मन की है दुर्बल से दुर्बल भी इतना तो सबल है कि छलांग लगा सकता है लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी सबलता को भी दुर्बलता बना देते हैं एक मित्र कल मुझे आके कह रहे थे कि पहले तो मैंने सोचा कि बुद्धिमान आदमी हूं ये मैं क्या कर रहा हूं ये नाचना ये कूदना ये तो बुद्धिहीनता है लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि अगर मैं बुद्धिमान आदमी हूं तो मुझे और भी बुद्धिमानी से इसमें प्रवेश करने की कोशिश करनी चाहिए और वे प्रवेश कर गए चाहते तो अपनी बुद्धिमानी को बाधा बना लेते चाहा तो उसे सहयोग बना लिया हमारे हाथ में निर्भर है हम सीढ़ियों को पत्थर बना सकते हैं मार्ग का और चाहे तो मार्ग के पत्थरों को सीढ़ी भी बना सकते हैं चढ़ने के लिए तो अपने अपने पर ख्याल करना कि हम अपनी सबलता को निर्बलता तो नहीं बना रहे हैं और कोई चाहे तो निर्बलता को भी सबलता बना लेता है अगर यह भी पता चल जाए कि मैं निर्बल आदमी हूं और हम परमात्मा के हाथ में सौंप दें और कह पाए कि मैं कुछ भी ना कर सकूंगा तुझे जो करना हो कर अगर ये भी पूर्णता से हम कह सके तो निर्बलता भी सबलता बन जाती और जो बिल्कुल असहाय अपने को छोड़ देता है उसे प्रभु का सहारा मिल जाता है तो ध्यान के लिए पहली बात तो है साहस दूसरी बात अपने से सावधान रहना क्योंकि आप ही अपने को धोखा दे सकते हैं कोई और नहीं सच तो यह है कि इस जगत में दूसरे को धोखा देना संभव ही नहीं है सिर्फ अपने को ही धोखा दिया जा सकता है we can receive only ourselves कोई किसी दूसरे को धोखा दे ही नहीं सकता दूसरे को धोखा दे के अगर आप कुछ पा भी लेंगे तो वो दो कौड़ी का है मौत उसे छीन लेगी लेकिन अपने को धोखा देकर हम ऐसा कुछ खो सकते हैं कि जन्म जन्म भटक जाएं और उसे पाना मुश्किल हो जाए और हम सब अपने को धोखा देते हैं तो दूसरी बात आपसे कहता हूं अपने को धोखा देने से सावधान रहना धोखा हम किस किस ढंग से दे लेते हैं एक मित्र परसों मेरे पास आए थे वो कहने लगे मैं तो बिल्कुल शांत ही हूं आनंद से ही भरा हुआ हूं और परमात्मा का तो मुझे साक्षात्कार हो चुका है तो मैंने कहा धन्यवाद अब और क्या बाकी है उन्होंने कहा लेकिन ध्यान का कोई रास्ता बताइए शांत हैं आनंदित हैं परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका अब ध्यान का क्या करिएगा अब ध्यान से क्या प्रयोजन है नहीं लेकिन अपने को धोखा देने की कोशिश चलती है ध्यान क्या है ये जानने का सवाल ही तब उठता है जब न मन शांत हो न आनंद मिला हो न प्रभु की कोई किरण उतरी हो तभी तो ध्यान को जानने का सवाल है लेकिन आदमी का अहंकार ऐसा है कि वो कहता है ऐसे तो सभी मिला हुआ है ऐसा अपने को धोखा मत देना है धोखे की बड़ी संभावना है देखकर कोई भी जान नहीं सकता है बाहर खड़े होकर दर्शक की भांति कोई ध्यान को नहीं जान सकता है कुछ चीजें हैं जो उतर कर ही जानी जाती हैं होकर ही जानी जाती हैं कुछ चीजें हैं जिनका एक ही रास्ता है जानने का उनके लिए to be is the only way to know जानने का और कोई रास्ता नहीं है हो जाए तो ही जान सकते हैं और जितनी गहरी हो बात उतना ही जानकर नहीं जानी जाती होकर जानी जाती जितनी ऊपरी हो बात बिना जाने बिना हुए भी जान ली जा सकती है ध्यान मनुष्य की आत्यंतिक संभावना है आखिरी संभावना है वो जो मनुष्य का बीज फूल बनता है वही फूल है ध्यान जहां मनुष्य खिलता है उसकी पखरियां खुलती हैं और उसकी सुगंध परमात्मा के चरणों में समर्पित होती ध्यान आखिरी संभावना है मनुष्य के चित्त की उसे तो होकर ही जाना जा सकेगा कोई बीज फूल के संबंध में कितनी ही खबर सुन ले तो भी फूल को नहीं जान पाएगा जब तक कि टूटे नहीं और फूल ना बन जाए और फूल के संबंध में सुनी गई खबरों में फूल की सुगंध नहीं हो सकती और फूल के संबंध में सुनी गई खबरों में फूल का खिलना और वो आनंद वो एक्सटेसी वो समाधि नहीं हो सकती है बीज कितनी ही खबरें सुने फूलों के बाबत बीज को कुछ भी पता न चलेगा जब तक स्वयं न टूटे अंकुरित ना हो बड़ा ना हो आकाश में पत्तों को न फैलाए सूरज की किरणों को न पिए और खिलने की तरफ स्वयं ना बढ़े तो दूसरे को देखकर कभी निर्णय मत करना कि हमने जान लिया कि लोग कीर्तन करते हैं ध्यान करते हैं स्वयं डूबना उस सागर में तो ही जीवन के आनंद के मोती उपलब्ध होते हैं दो तीन बातें ध्यान की इस प्रक्रिया के संबंध में आज कुछ और भी इसमें जोड़ूंगा कल जिन लोगों ने माथे पर हाथ को रगड़ने का तीसरे नेत्र को जगाने की कोशिश की है उसमें बहुतों को बहुत अद्भुत परिणाम हुए उनके लिए एक चीज आज और जोड़नी है और वो है जब तीसरा चरण मौन का पूरा होगा तब मैं आपसे कहूंगा कि दोनों हाथ आकाश की तरफ उठा लें आंख खोलकर आकाश को देखें और आकाश को देखने दें आपकी आंखों में और जब आप दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाए हों तब जो आनंद आपके भीतर भर गया हो उसे अभिव्यक्त करें उसे प्रकट करें उस आनंद को आपके रोए रोए से प्रकट होने दें अगर प्रफुल्लता की एक लहर प्रकट हो जाए हंसी फूट पड़े या आनंद के आंसू बहने लगे या थिरक में आप नाच उठे तो उसे प्रकट करें एक तो नृत्य है जो हम प्रभु के द्वार पर जाने के लिए करते हैं और एक और भी नृत्य है जो उसके द्वार पर पहुंचकर धन्यवाद की तरह होता है तीसरे चरण को समाप्त करने के पहले इसके पहले कि हम परमात्मा को धन्यवाद दें उसका अनुग्रह स्वीकार करें आप दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाकर आंखें आकाश को देखेंगी और आकाश को आंखों में झांकने देना और फिर जो भी अभिव्यक्ति आनंद की आपको सहज घटित हो जाए उसे प्रकट करना है one thing more is to be added today after the deep silence Third step you have to raise your both hands towards the sky and open your eyes so that you can see the sky and the sky can see you. You, with your eyes into the sky, and the sky with his eyes penetrating deeply into you. A communion with the sky and when you feel the communion, then let the bliss that is flowing in you be expressed with any gesture that happens spontaneously, that happens with any gesture, with laughter, with tears of bliss, with dancing, with any movement, whatsoever happens to you, express it. as a thanksgiving to the divine. Before we give the thanks, aid this today. I will give you the suggestions after third step of deep silence. Express your bliss. और कल जो मैंने जोड़ा है वो तो आपको ख्याल में है पंद्रह मिनट के कीर्तन और पंद्रह मिनट के व्यक्तिगत सक्रिय ध्यान के बाद आपको अपना सीधा हाथ राइट हैंड दोनों आंखों के बीच में रख लेना है भ्रुकुटी पर और दोनों तरफ आजू बाजू ऊपर नीचे रगड़ना है वही है जगह जहां तीसरा नेत्र है वही है जगह जहां से द्वार है अंतरयात्रा का जहां से मनुष्य स्वयं के भीतर प्रवेश करता है I must tell you again after the second step you have to put your right hand palm between the eyebrows and then rub it sideways, up and down for one minute continuously, because that is the point, the center from which one goes inwards. Rub it so that the screen, a very thin skin screen, is there, which is hiding the third eye, is just rubbed off with the energy overflowing, with the energy moving in you, the right palm just becomes a vehicle for the energy to work on the third eye spot. So rub it for one minute continuously, then go in deep silence in the third step. Now we will begin जो लोग भी यहां देखने को आ गए हों वो कुर्सियों पर बैठ जाएं कोई देखने वाला व्यक्ति यहां ध्यान करने वालों के साथ ना हो जिसको भी देखना है वो कुर्सियों पर बैठ जाए और देखने वाले किसी तरह की बात नहीं करेंगे शांत बैठ के देखते रहेंगे Did you be here in the kitchen? लेना कम है और करने वाले दूर दूर फैल जाएं जितने दूर फैलेंगे उतनी गति आएगी दूर दूर फैल जाएं बड़ी जगह है दूर दूर फैल जाएं बातचीत ना करें दूर दूर फैल जाएं और देखने वाले बातचीत नहीं करेंगे खड़े ना हो कुर्सियों पर बैठ जाएं काफी कुर्सियां हैं देखने वाले कुर्सियों पर बैठ जाएं देखिए इस तरफ भी कोई देखने वाला ना खड़ा रहे किसी को खड़ा होना हो तो कुर्सियों पर आ जाएं माणिक बाबू वहां से लोगों को कहिए कि वहां जो खड़े हो जाते हैं वो कुर्सियों पर आ जाए हम्म? नहीं कब नहीं आ पाएंगे थोड़े लोग रहेंगे कितने सार्थक और ले लो इस पट्टी में दो एक दो को लक्ष्मी एक दो को पट्टी को भेज दो नहीं यहाँ बैठना नहीं है यहाँ नहीं बैठना वहाँ कुर्सी पे जाओ यहाँ नहीं बैठना उनको रखना होगा communist come up ask Prem Christ to come here. Be here on the stage. Yeah, be here on the stage. You are here. Good. बच्चे के यही है तो बच्चे इसको तो हटा देना माइक को हटा दे माइक ले लो नहीं ले लो इसकी जरूरत नहीं माइक ले लो तुम ढोलकी के पास ले लो सूचना है सब निकालना पड़ेगा वो तो पीछे माइक ले लेंगे जब सूचना देंगे अभी बाकी को हटा हम्म? हटा के नीचे रख देंगे તમારા વાયર વાયર નાના છે ને અહીંયા મૂકી દઈએ અહીંયા મૂકી Yeah, just remove it. Television वाले को कहाँ रखें तुम तो उसके नीचे रख दो volume of possible volume of ah, ah. भले रहो मैं मैं जरा उठा लेंगे याद रखने जब मैं इतना रखूंगा या खड़े रहें या बैठे रहें आंख बंद कर लें आंख बंद कर लें लेट जाए बैठे रहें या खड़े रहें आंख बंद कर लें अब आंख खुली नहीं रखनी हो सकती जग गई है उनसे भीतर प्रवेश करने देना आंख बंद कर लें और दोनों आंखों के बीच माथे पर अपना सीधा हाथ रख लें हाथ को रगड़ें ऊपर से नीचे और दोनों तरफ आजू बाजू Put your right hand palm on the forehead and rub it sideways and up, down. For one minute, rub it with closed eyes. Rub your right hand palm on your forehead, sideways, up and down both. प्रवेश रगड़े हाथ की गद्दी को रगड़े दोनों ओर आजू बाजू ऊपर नीचे तीसरे नेत्र पर जोर से रगड़े एक मिनट तक force forcefully lie down as a dead लेट जाए जैसे मुर्दे गए भूल जाए शरीर को लेट जाए जैसे मर गए जैसे मर गए शरीर छूट गया शरीर लाश की तरह पड़ा रह गया भीतर प्रकाश ही प्रकाश भर गया भीतर प्रकाश ही प्रकाश जैसे हजारों सूरज एक साथ निकल आए भीतर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया भीतर प्रकाश ही प्रकाश अन्न प्रकाश look in and and the infinite life look inside Look inside and feel the infinite light. Feel the infinite light light life and belief. देखे भीतर देखे अनंत प्रकाश अनंत प्रकाश भर गए और छोर नहीं ऐसे प्रकाश के सागर में खो गए प्रकाश ही प्रकाश रह गया आप मिट गए you are not now only light in in light name अनुभव करें इस प्रकाश को अनुभव करें इसमें खो जाएं इस प्रकाश को अनुभव करें feel feel this life be one with it be one with it प्रकाश ही प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश life and more life and more life and you are not आप खो गए और प्रकाश ही प्रकाश बचा है खो जाए बिल्कुल खो जाए तीसरे नेत्र के द्वार से डूब जाए प्रकाश में from the door of the third eye just drop in this ocean of life टूट जाए खून जाए छलांग लगाए प्रकाश ही प्रकाश रह गया है भूमि की तरह उस प्रकाश में खो गए शरीर अलग पड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा जैसे कोई लाश पड़ी हो अपनी ही लाश शरीर अलग पड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा जैसे कोई लाश पड़ी हो अपनी ही लाश बाहर निकल आए अपने शरीर से जैसे कोई अपने कपड़ों को छोड़कर बाहर निकल आए जैसे कोई अपने घर के बाहर निकले बाहर निकल आए और लौट कर देखे शरीर पड़ा है आपका ही मुर्गे की बात take a jump out of your body this is the movement Take a jump out of your body and look back. The body is lying dead. Take a jump. This is the moment. Take a jump out of your body and look back. Your own body just lying dead. Do not fear, take a jump निकल जाए हिम्मत करें कूद जाए यही उत्साह और लौट कर देखें शरीर मुर्दे की भांति पड़ा प्रकाश की प्रकाश प्रकाश की प्रकाश और प्रकाश के पीछे ही आ जाता है आनंद जैसे अनंत झरने फूट पड़े अनुभव करें प्रकाश के पीछे ही आ जाता है आनंद जैसे झरने फूट पड़े रोए रोए में आनंद की पुलक समा जाती और light is followed by by divine divine It comes just as a shadow of light. Feel it. Feel it. Feel the bliss divine. It follows as a shadow. रोए रोए रोए होकर एक दिव्यांग पीछे चला जाता है से कोई छाया की हाँ, रोए रोए को भर देता अनुभव करें अनुभव करें अनुभव करें फिर फिर द फिर द डिवाइन ब्लिस वही है मौजूद केवल वही है मौजूद श्वास में भी भीतर वही आता है और श्वास से बाहर भी वही जाता है feel the divine you are not now feel the divine all round inside and out it comes in the incoming breath it goes in the outgoing breath feel Feel it. You are not. You are just a white and nothingness. Now feel the divine, the divine distance in this nothingness, in this void. Feel it. अनुभव करें अनुभव करें अनुभव करें नहीं है अब परमात्मा ही है अनुभव करें चारों ओर उसकी मौजूदगी उसकी ही बाहों में लिपते हुए उसके ही आलिंगन में है आप मिट गए परमात्मा ही है चारों ओर वही है अनुभव करें अनुभव करें स्पर्श अनुभव करें उसकी मौजूदगी अनुभव करें ना you are not only the wide is let this word become a medium for the descendants of the divine. Now the door is open and the divine is present all around. Feel it, feel it, feel it. आप मिल गए आप मिल गए खो गए एक शून्य रह गया इस शून्य में ही उतरता है प्रभु द्वार खुला है अनुभव करी चारों ओर वही है सूरज की किरणों में वही हवाओं के झोंकों में वही आकाश में वही आती जाती श्वास में वही अनुभव करी अनुभव करी अनुभव करें Feel the divine, feel the divine, feel the divine. You are not now, you can feel the divine, feel it. अब फिर से एक बार सीधे हाथ की हथेली को दोनों आंखों के बीच में माथे पर रखनी once more put your right in palm between the eyebrows on the forehead and rub it again rub it again forcefully sideways and upside both rub it for one minute Rub forcefully. रगड़े हाथ की हथेली को रगड़े rub it forcefully. Suddenly a door opens, rub it forcefully. Suddenly something happens inside, rub it forcefully. जोर से रगड़े भीतर कुछ जोर से घटित होगा की तरफ देखें दोनों हाथ आकाश की तरफ फैला लें और आनंद का जो भी भाव उठे उसे प्रकट करें एक्सप्रेस योर बिलिफ का जो भी भाव हो उसे प्रकट करें परिपूर्ण प्रफुल्लित होकर प्रकट करें your bliss be expressed से देखें दोनों हाथ ऊपर आंखें आकाश की तरफ आकाश को झांकने दें let the sky have a glimpse in you आकाश को आंखों में झांकने दें और आनंद को प्रकट करें जिस भांति भी प्रकट दोनों हाथ जोड़ लें और परमात्मा को धन्यवाद दे दें दोनों हाथ जोड़ लें परमात्मा के चरणों में सिर रख दें पुट और बोथ पान नमस्कार बोल पुट और हेड इन द की अन्ना and now thinking for his for his great express your gratitude for this grace. आदमी अकेला काफी नहीं आदमी अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा आदमी बहुत अपहार है परमात्मा की सहायता चाहिए उसका हाथ चाहिए मैन अलोन एक not enough man grace man alone cannot feel helpless totally helpless and thankful for break और हृदय की दर्शन दर्शन को कहने से प्रभु की अनुकंपा अपार है प्रभु की अनुकंपा अपार है प्रभु की अनुकंपा अपार है इन फनाई इसाई ग्रेट इन फनाई इसाई ग्रेट इन फनाई और ध्यान से वापस लौट आए दो चार गहरी सांस ले